आपको योग की इतनी लंबी लंबी विद्याएं सिखाऊं और एडी से चोटी तक का जोड़ लगाऊं और मैं कभी नहीं ध्यान में बैठूं न कभी योगाभ्यास करूं और आपके सामने कहता रहूं आप मेरे व्यवहार को देख के क्या अनुभव करेंगे ये कितने ढोंग है पाखंड है जाल बिछाया है यही उसका प्रभाव होगा जिस समय महर्षि दान सरस्वती जी योगी की खोज करते थे उस समय कोई पौराणिक मिल गया कोई दूसरे मत वाला मिल गया कोई और मिला उसने कहा ये योगाभ्यास है महर्षि क्या करते थे उसने बताया वो गलत भी क्यों न हो वो पकड़ लेते थे और फिर उनका प्रयोग करते थे तो गलत होने पर छोड़ देते इतनी उनकी श्रद्धा थी जो बताया गुरु जी ने ठीक बताया होगा एक बार की जीवन की घटना है किसी ने कहा कि भांग खाने से समाधि बड़ी अच्छी लगती है तो ऋषि ने भांग पी या खाई वो तत्व हो गए वो लंबी कथा है कहने लगे भाई ये किसी ने कहा था कि भांग पीने खाने से समाधि लगती है इसमें तो उल्टे उल्टे विचार आए सुपनी उल्टे आने लगे कभी नहीं खाई चुवा अब किसी ने कहा हमारे मस्तक में ये है हमारे मस्तक में ये दरवाजा है ये है वो है इतनी इतनी चीजें हैं एक शव को लेके ऋषि ने काट काट के देखा कुछ भी नहीं मिला तो काट के फेंक दिया ये प्रगति ऐसे नहीं हो सकती बहुत प्रयोग है मेरे अपने जीवन में देना है परिवार में मोड़ समाज में मोड़ राष्ट्र में मोड़ देना है तो करनी और कथनी में एकता लेनी पड़ेगी आप आप यह योग सीख के जाते हैं घर में पत्नी पति प्यार से नहीं रहते नमस्ते तक तो करते नहीं ऐठ रहती है प्यार नहीं अब आप क्या योगाभ्यास करेंगे जी और आपके व्यवहार को देख के लोग क्या सीखेंगे ध्यान दो बैक आने से दुनिया आपकी ओर नहीं आएगी थोड़ी सी दिन बैक आ सकते हैं आगे चल के सब पता चल जाता है समझाया जाता है कि भाइयों करना धरना अलग चीज है मंच की बात और होती है और व्यवहार की बिल्कुल और जीवन होता है और दुनिया को प्रभावित करो मूर्ख बनाओ और क्या बिगड़ता है भाई ये इसमें सिद्धांत मान लीजिए आप आत्मनिरीक्षण करते हो ऐसा है या नहीं है अपने जीवन में देखो दूसरे को छोड़ो आपके जीवन में है क्या ऐसा जी कुछ तो होगा गड़बड़ हो रही होगी आत्मनिरीक्षण किया करो और आत्मनिरीक्षण में देखो हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं उन कमियों को उखाड़ के फेंको अपनी कमियों से जो व्यक्ति प्यार करता है वो व्यक्ति अच्छा कभी नहीं बनता क्या समझे सिद्धांत अपने दोषों से अपनी त्रुटियों से जो व्यक्ति प्रेम करता है वो सुधरता कभी नहीं असंभव बात है अपने दोषों का जो अत्यंत विरोधी है अत्यंत शत्रु है वो व्यक्ति सुधरता है तो जो आपको यहां सिखाया जाता है उसको भोजन खाने से पहले सायकाल भोजन आदि कुछ भी खाने से पहले प्रातः काल प्रातः सायकाल उसका अभ्यास किया करें आप जब अभ्यास करते चले जाएंगे धीरे धीरे आपकी स्थिति सुधरती चली जाएगी आपके सामने प्रयोग करने पर जो उपलब्धियां होंगी उसका प्रभाव पड़ेगा जप करने से हमको ये शांति मिली प्राणायाम करने से ये उपलब्धि हुई आदि आदि जब उसकी उपलब्धियां सामने आती हैं तो श्रद्धा होती है जो करके ही नहीं देखता तो उपलब्धियां सामने आनी नहीं है श्रद्धा होनी ही नहीं है विकास प्रगति वैज्ञानिकों ने एक एक तिनके को लेकर के आकाश पाताल को खोजा है हजारों उपलब्धियां उपस्थित कर दी वैज्ञानिकों ने हमारे योग के क्षेत्र में इसको संध्या भी नहीं आती करनी ये क्या विकास करेगा बात कह करिए योग की बात सुनाइए योग की और कह दीजिए कुछ दर्शनों को सुना दीजिए और योगाभ्यास करना नहीं व्यवहार में यम नियम का पालन नहीं तो सारी दर्शनों की विद्या धरी धराई रह जाएगी कोई पूछने वाला नहीं इसको आज हमसे कोई पूछता है आपने क्या प्रगति की समाधि में क्या मिलता है क्या भगवान का दर्शन होता है या नहीं होता है और हम कुछ भी न बता सके तो क्या योगाभ्यास हुआ ये हम अनेक उपलब्धियां बता सकते हैं योगाभ्यास से ये ये परिणाम होते हैं मन को कैसे जीता जा सकता है भगवान का दर्शन साक्षात्कार कैसे होता है ये सारी चीजें हम बता सकते हैं जब बता सकते हैं तो ठीक है प्रगति होगी और वैज्ञानिक भी मान लेंगे एक दिन इसको और यहां तो कुछ भी तो नहीं हो रहा संध्या तक तो लोग करते नहीं वो योग में क्या गति करेंगे यमनियनों का पालन नहीं व्यवहार में आपस में प्रेम नहीं वो क्या योगाभ्यास करेंगे तो ध्यान दो एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण की बात आ रही है वह है व्यवहार काल और उपासना काल क्या है व्यवहार काल में जो व्यक्ति बुरी प्रवृत्तियों को नहीं रोकता और अच्छी प्रवृत्ति से काम नहीं लेता उस व्यक्ति की प्रगति विकास नहीं होता उपासना काल उपासना काल में बुरी प्रवृत्तियों के बाद छोड़ो अच्छी प्रवृत्तियों को जो नहीं रोकता और ईश्वर से आबद्ध नहीं होता वो कभी भी विकासशील नहीं बन पाता अब क्या समझ में आया आपको बोलिए दूसरी भाषा में सुनो व्यवहार काल में जो यम नियमों का पालन नहीं करता और यम नियमों के विरुद्ध जो आचरण है उसको नहीं छोड़ता वो व्यक्ति कभी अच्छा नहीं बनता अब तो आगे समझ में है हाँ जी ध्यान देना उपासना काल में बुरी प्रवृत्ति तो रोकनी ही रोकनी है उपासना काल में जो अच्छी प्रवृत्ति को जगा देता है और परमात्मा से संबंध काट देता है वो व्यक्ति कभी प्रगतिशील नहीं होता दोनों मंत्र समझे नहीं समझे आप और उदाहरण आएंगे आपके सामने व्यवहार काल में घर में प्रेम से रहो अहिंसा सत्य का पालन करो पड़ोसियों के साथ में भी अच्छा व्यवहार करो व्यापार में धोखा आदि किसी को मत दो कोई विद्यालय चलाओ अनाथालय को सहायता दो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को बढ़ाओ विद्वान तैयार करो ये अच्छी प्रवृत्ति कहलाती है क्या समझ में आया नहीं आया आप भी समझ में यानी चोरी करो और चोरी करवाओ लड़ो लड़ाओ यानी प्रेम से मत रहो दिनचर्या कुछ नहीं है न ये जे करो कुछ नहीं उल्टे सीधे काम करते रहना ये बुरी प्रवृत्तियां कहलाती हैं इसलिए ऋषि ने एक बात लिखी है याद रखना कहां पर ऋग्वेदादि भाष्य भूमि का संकेत कर सकते हैं आप उपासना विषय में लिखी है उन्होंने कहा व्यवहार काल में अच्छी प्रवृत्तियों से काम लो और बुरी प्रवृत्तियों को रोक दो उपासना काल में अच्छी प्रवृत्तियों को भी रोक दो तो सफलता मिलेगी समझ लो पहले अच्छी तरह से बिना समझे कोई बात वो धरती पर नहीं उतरती आप संध्या में बैठे और आपने आर्य समाज के प्रचार के लिए दस हजार रुपया खर्च करना और दानी लोगों के आपकी सूची सामने है कि कौन कौन दे सकते हैं आदि आदि और बैठे संध्या के लिए दानी लोगों का विचार करने बैठ गए वहां से ये मिलेगा वहां से वो मिलेगा उसकी रसीद वहां दे देंगे उसकी रसीद वहां दे देंगे अब ये उपासना काल में वो व्यवहार काल की बातें को छेड़ बैठा क्या समझ में आया बोलो दोनों को विभाजित कर लीजिए अच्छी तरह से जो लोग केवल उपासना के लिए समय लगाते हैं और व्यवहार उसका उल्टा होता है वो कभी योग में प्रगति नहीं करते जो लोग व्यवहार की बातें करते हैं व्यवहार सुधारो संध्या की आवश्यकता नहीं है व्यवहार अच्छा करो हवन की आवश्यकता नहीं है व्यवहार अच्छा करो सत्संग की जरूरत नहीं वो बेतु की बातें हैं कोई भी व्यक्ति जो ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना नहीं करता वो व्यवहार की डींग मार सकता है उसका व्यवहार कभी अच्छा नहीं होगा ये कहने की बातें केवल बकवास है लोगों की अपनी व्यवहार को ठीक रखो संजय की कोई आवश्यकता नहीं व्यवहार अच्छा होना चाहिए सत्संग की कोई जरूरत नहीं व्यवहार अच्छा करो हवन हाँ, में क्या निकलता है जी हमारा व्यवहार ही अच्छा तो संध्या क्यों करे ये ये कहते हैं लोग तुम्हारे दादा परदादा का व्यवहार भी अच्छा नहीं होगा तुम्हारी तो बात क्या व्यवहार अच्छा बना लो संध्या मत करो व्यवहार अच्छा बना लो हवन मत करो व्यवहार अच्छा बना लो सत्संग में जाने की कोई जरूरत नहीं है व्यवहार अच्छा बनाओ स्वाध्याय की जरूरत नहीं है अब ये कहते बहुत अच्छा व्यक्ति है तो ये संध्या करता नहीं हवन करता नहीं स्वाध्याय करता नहीं बहुत अच्छा व्यवहार है इसका आपने सुनी ये बातें या नहीं सुनी सुनी है अब दूसरा व्यक्ति आगे खड़ा हो गया कहने लगा भाइयों बहनों उपासना किया करो कई घंटे तक जप करो और दो घंटे सायकाल दो प्रातः काल लगाया करो आप मोक्ष में चले जाओगे ऐसा रोज करो मैं तो ऐसा ही करता हूँ मैं नहीं सोचता कि घर में क्या हो रहा है मैं नहीं देखता कि समाज में क्या हो रहा है ये अपना काम इनका मैं क्या सोचता हूँ राष्ट्र में क्या हो रहा है मैं तो केवल ध्यान में बैठता हूँ समाधि की ओर प्रगतिशील हूँ मुझे आवश्यकता ही नहीं है किसी के साथ ऐसा बोलने की अब ये दूसरा बेतुका व्यक्ति है योग के नाम से दोनों आगे समझ में तो आप कौन से मजे हैं दोनों होंगे भाई आत्मनिरीक्षण तो ये होगा मैंने कह दिया आपने सुन लिया बस बेड़ा पार ये नहीं है अपनी ओर कहते एक दूसरे की ओर तो तीन उंगलियां अपनी ओर जाएंगी अपनी ओर देखो उदाहरण के रूप में सुन लेना अच्छी तरह से जो व्यक्ति दिन में परिवार समाज के साथ मीठा नहीं बोलता अहिंसा का पालन नहीं करता सत्य के व्यवहार नहीं करता वो संध्या नहीं कर सकता एक परिणाम पर हम पहुंच गए हैं अच्छी तरह याद कर लो और ये भी याद रख लो जिन बातों पर मैं जोर देता हूं बल देता हूं वो कोई साधारण बातें नहीं है आपने सोच लिया होगा ये सुना देते हैं ये वहां से उठा के यहां सुना दी है पुस्तकों से पढ़ के सुना दी है इतने लंबे परीक्षण हो चुके हैं और ऋषियों ने परीक्षण किए हैं वेदों में ये बातें हैं ऋषियों ने ये बातें लिखी हैं दर्शनों में ये सारी विद्या भरी हुई है और उस विद्या को हमने प्रयोग कर करके देखा है तो दोनों बातों का विभाजन करिए आप व्यवहार काल में यम नियमों का पालन करना क्या समझिए परिवार में समाज में दुकान में खेती बाड़ी में दफ्तर में अध्यापन में उपदेश में सब जगह यम नियमों का पालन करना तन मन धन से दूसरों का भला करना किसी का बुरा न करना इसका मतलब है व्यवहार में बुरी प्रवृत्तियों को रोकना और अच्छी प्रवृत्तियों को जगाना हो गया अब उपासना काल में आए हम प्रातः सायकाल ध्यान देना ऋषि ने कहा उपासना काल में अच्छी प्रवृत्तियों को भी रोक दो अब क्या समझ में आया आपको किसी को दान देना किसी की सहायता करना अनाथालय चलाना और जो भी कितनी दुनिया भर के अच्छे काम हैं उपासना काल में उनको उन प्रवृत्तियों को अच्छियों को भी नहीं उठाना परिणाम ये निकलेगा हम उन अच्छी प्रवृत्तियों की बात सोचते रहेंगे दान दक्षिणा की विद्यालय चलाने की गरीबों को परमात्मा के साथ हमारा क्या संबंध है कुछ नहीं ईश्वर का हमारा क्या संबंध हुआ उसमें ईश्वर का हमारा कोई संबंध नहीं है ये भूले दोनों ओर हो रही है बराबर हो रही है इसलिए योग विद्या का विकास नहीं हुआ योग विद्या विकसित नहीं हुई और कोई आई है चीजें तो आडंबर के रूप में आई है पाखंड के रूप में आई आपको मैं दंड बैठक सिखाता रहूं सांस घोटना सिखाता रहूं नेति धोती कहेंगे बहुत अच्छा योग है आत्मा क्या है परमात्मा क्या है समाधि कैसे लगाओ यम नियम का पालन करो परोपकार करो क्योंकि ये योग थोड़ा ही आजकल तो योग इसका नाम है तो दो बातों को ध्यान में रखोगे कौन सी थी वो व्यवहार काल में अच्छी प्रवृत्ति अच्छे विचार यम नियमों का व्यवहार सबके कल्याण के लिए करो और व्यवहार काल में उल्टी चीजें उल्टे विचारों को रोक दो तो जीवन सफल हो जाएगा ईश्वर उपासना काल में बुरी तो रोकनी ही रोकनी है पर अच्छी प्रवृत्तियों की चर्चा विवेचन विचार बिल्कुल नहीं करना प्रतिबंध लगा दो आधा घंटा एक घंटा पौन घंटा केवल ईश्वर की स्तुति करनी है दूसरे विचार नहीं करने ये प्रतिबंध लगा दीजिए यदि प्रतिबंध नहीं लगाते तो संध्या भी नहीं कर सकते आप विषय है ध्यान का ये दूसरी बात चर्चा चल पड़ी है ईश्वर की खोज ईश्वर की गवेषणा ईश्वर को कैसे ढूंढा जाता है क्या चर्चा चल पड़ी ईश्वर को ढूंढने वाला व्यक्ति क्या क्या भूले करता है उनमें से कुछ सुनना ये भूले तो मैंने बताई व्यवहार काल में जिसका जीवन ऐसा है उपासना काल में ऐसा है वो व्यक्ति सफल नहीं होगा अब जो खोज होती है ध्यान काल में उसमें व्यक्ति क्या भूलें करता है व्यक्ति जिस समय ध्यान में बैठता है ओम का जप करता है वैदिक संध्या करता है तो वो क्या मान मान सकता है वो सोचता है भगवान अथवा ईश्वर परमात्मा कहीं दूर देश में बैठा है और मैं कहता हूं धियो यो न प्रचोदयात ओम भूर भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यम हे ईश्वर हमारी बुद्धियों को अच्छे मार्ग पर चलाओ उसके दिमाग में क्या बात है कि ईश्वर कहीं दूर देश में बैठा है क्या समझ में आया क्या भूल कर सकता है चाहे माता ने संस्कार डाले हो चाहे पिता ने डाले हो चाहे स्वयं कल्पना की हो किसकी ईश्वर कहीं दूर देश में रहता है प्राय व्यक्ति के मन में आपके मन में भी ये बात मिलेगी ये मत सोचना कि आपके मन में नहीं है ये पता खोज करने से चलता है ऐसे नहीं पता चलता से आप कहते हैं जी भगवान हमारे पास में है ईश्वर हमारे पास में है पर आप कभी भी भगवान को ईश्वर के पास में देख ही नहीं पा रहे होंगे टटोल तो के तो देखो वही दिमाग वह परमात्मा आनंद स्वरूप है वह परमात्मा सर्वज्ञ है इसका मतलब क्या निकला नहीं समझ पा रहे हैं वह का अर्थ क्या है दूर उसके दिमाग में ये बात बैठ गई वह शब्द से किसे बैठी वह परमात्मा समुद्र की तह में बैठा है वह परमात्मा सूर्य के बाहर भीतर है वह परमात्मा सर्वज्ञ वह वह कहते कहते इसका दिमाग क्या बन गया दूर भगवान दूर बैठा है और संध्या में भी वही हालत रही ओ मानन स्वरूप वह परमात्मा आनंद स्वरूप है एक भूल सामने आई ये भूल मत करना यद्यपि ईश्वर वहां भी है यहां भी है पर उसका दिमाग खराब इसलिए हुआ जो यहां नहीं मान रहा वो वहां मान रहा है नहीं समझे आप हमने समझाया उसको कहा भाई ठीक बात है ईश्वर बाहर भी है दूर भी है पर भले व्यक्ति भले व्यक्ति हमारे बाएं दाएं ऊपर नीचे भी तो है तो अच्छा हाँ भाई भगवान दूर है ये ठीक बात है पर दाए बाए आगे पीछे ऊपर नीचे भी तो है यहां बात तो ठीक है तो उन्होंने क्या किया ओम असतो मा सदगमय और वो कहने गया हे भगवान आप दाए हैं बाए हैं आगे हैं पीछे हैं मुझे असत्य से हटा दो हे दाए वाले भगवान हे बाए वाले भगवान हे आगले भगवान अब शरीर को छोड़ बैठा हो दूसरी भूल क्या की है, है? नहीं आई बात पकड़ में नहीं आई क्या सुन लो दूसरी भूल क्या करता है दूर दूर तो खोजना छोड़ दिया ईश्वर को दाए ढूंढता है ईश्वर को बाएं भी मान लिया आगे भी मान लिया पर शरीर को छोड़ दिया अब ये दूसरी भूल कर बैठा अब कुछ आई बात समझ में नहीं पढ़ना सीख लो और पढ़ाना भी सीख लो पढ़ना पढ़ाना सबको नहीं आता सबके बस की बात नहीं है ये विद्या पढ़ना पढ़ाना सबको नहीं आता सीख लो एक अध्यापक थे पता नहीं सत्तर वर्ष के थे अच्छे ऊंचे स्तर पर रहे बहुत <laughs> जब मैं उनको पढ़ाता था और जब मैं उनको कहता आपको मैंने देखा है कि जो पढ़ाना आपको आता है हमको किसी को नहीं आता पढ़ाना सबको नहीं आता मेरा मतलब मुझे ही आता ये मतलब नहीं बहुत लंबे परीक्षण पर पढ़ाना आता है बिना थोड़ी सी परीक्षण में कोई पढ़ाई नहीं करवाई जा सकती सुन लो दूसरी भूल उसने क्या की भगवान को यहां भी ढूंढता रहा आगे भी ढूंढता रहा बाएं भी ढूंढता रहा नीचे भी ढूंढता रहा ऊपर और शरीर को छोड़ बैठा बुलावे क्या भगवान मिलेगा ऐसे ईश्वर मिलेगा फिर कहेंगे तू क्या भूल कर रहा है दाए भी ईश्वर है ईश्वर है आगे भी ईश्वर है ऊपर भी है तू शरीर में ढूंढ गुरु जी ने सिखाया हाँ शरीर में अभी और आगे आगे पड़ाव चलेगा अभी अंत नहीं आया भूलों का एक एक भूल करता जाता है और उन भूलों के कारण भगवान ईश्वर तक नहीं पहुंच पाता फिर सुनो भूलों का याद रखना उसने गुरुजी ने कहा कि भाई बाएं ईश्वर है ठीक है दाए है पर शरीर को मत छोड़ शरीर में ढूंढ वो शरीर में ढूंढने लगा हृदय में परमात्मा है कंठ में परमात्मा है और भाई मस्तिष्क में परमात्मा है और आत्मा को छोड़ दिया अब क्या भूल की हाँ जी नहीं पता चले आपको फिर से सुन लो तीन बार सुनो पांच बार सुनो बिना सुने कोई आगे चीज मत बनाओ क्या भूल की उसने उसने हृदय में ईश्वर को ढूंढा उसने कंठ में ढूंढा उसने मस्तक में ढूंढा पर आत्मा को स्वयं को छोड़ दिया उदाहरण देने पड़ेंगे ऐसे समझेंगे नहीं आप जीव आत्मा इतना छोटा है इतना छोटा है एक जू में भी आराम से रह सकता है क्या समझे आप बोलो जू तो बहुत बड़ी है इतने छोटे कीड़े होते हैं जो आंखों से दिखने उसमें जीवात्मा आराम से रह सकता है इतना छोटा है नहीं समझे आप अणु है छोटा और वही जीवात्मा हाथी में जाता है तो हाथी दिखने लगता है वो शरीर है इसमें आया तो ये अब ध्यान देना कल्पना करते हैं ये जीवात्मा शरीर में एक जगह है या सब जगह है जी ये सायकाल का विषय है ये सायकाल का विषय चल रहा है ये ये जो आपने छेड़ा अब लंबा नहीं बता पाएंगे पर इतना याद रखना शरीर में जीवात्मा एक जगह ही है सब जगह नहीं है ये विषय सायकाल का आत्मा का स्वरूप ईश्वर का स्वरूप बताया अपना स्वरूप भी सोच हा हम कहा चले गए कि वो जो था जीवात्मा कल्पना करते हैं ये जीवात्मा है इस शरीर में यहां चलिए और अपने को उसने छोड़ दिया और ईश्वर को ढूंढने लगा अपनी जगह जो थी उसको उसने छोड़ दिया तो क्या ईश्वर मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा बताओ एक व्यक्ति बोलेगा बोलो क्यों नहीं मिलेगा नहीं ये उत्तर नहीं बनेगा हाँ बोलो है हाँ सुनो आप बोलो ये बात भी नहीं है और बोल लो हाँ बोलो हाँ ये बात कुछ निकट गई है आपकी बातें निकट नहीं गई उनकी बात थोड़ी सी निकट पहुंच गई है समझने की बातें विज्ञान की बातें यदि आपको इतना क्यों समझाया जा रहा है इसीलिए कि ये बातें उलझी हुई बातें स्पष्ट बातें आए देखिए उन्होंने बात कुछ निकटतम कही है ध्यान देना ईश्वर कैसा है जीवात्मा में भी है ध्यान देना और बाहर भी है दूर भी है यदि सब जगह है तो उसको सब जगह मान के ढूंढना चाहिए कुछ आई बात पकड़ में वो गलत हो गया छोड़ना नहीं वहां ये जानना था कि मैं जहां हूं वहां भी ईश्वर है और बाहर भी ईश्वर है तब ढूंढना सही था नहीं मानता तो अज्ञानता अज्ञानता आई ना यहां पर ढूंढना गलत हो गया ध्यान से सुनने की बात है ये साधारण बात नहीं है आंतरिक उलझने हैं ये ध्यान दो फिर से सुनिए जो चीज जैसी हो वैसा मान के ढूंढना ध्यान है दोहरा लो अच्छी तरह पकड़ो बात जो चीज जैसी है वैसा मान के उसकी खोज करने का नाम ध्यान है और जो चीज जैसी नहीं है वैसा मान के ढूंढना ध्यान है परिभाषा व्यापक है जी एक उदाहरण बनाएंगे बिना उदाहरण के बाद स्पष्ट नहीं हो पाती अमरीका का व्यक्ति किसी ने किसी ने बहकाया बहका दिया गुरु जी के एक जगह पर कहेंगे देखो भाई भारत जो है ऐसा देश है उसमें एक दिल्ली में लाल किला है और भाई लाल किला जो है इतनी लंबी चौड़ी झोपड़ी का नाम लाल किला है पांच फुट लंबा तीन फुट चौड़ा ऊपर बांस लगे हुए हैं उसका नाम लाल किला है क्या समझे पढ़ा दिया लाल किला दिल्ली का लाल किला अमेरिका वाला व्यक्ति जान गया भाई लाल किला तो इतना लंबा इतना है पांच फुट लंबा तीन फुट चौड़ा और वह बांस लगे हुए हैं और एक दरवाजा सा बना रखा है चटाई का और वो आया भारत में जिंदगी में लाल किला ढूंढ रहा हूं किसी से पूछा नहीं जी ने उसके <laughs> उन्हें बताया वो ढूंढता रहा कि लाल किला ढूंढना है और वो दस वर्ष लगा दिए लाल किला नहीं मिला आप बताओ क्यों नहीं मिला लाल किला फिर भी समझ में नहीं आया लाल किला ऐसा था ही नहीं जैसा वो ढूंढ रहा था मेरा बात समझ में वैसा नहीं था और यदि वो सही लाल किले को बताता और सही आता तो लाल किले को वो ढूंढ लेता सब जगह लागू होगा ये नियम जैसा ईश्वर है वैसा मान के ढूंढो ईश्वर मिलेगा जैसा ईश्वर नहीं है वैसा मान के ढूंढो लाख जन्म में नहीं मिलेगा कुछ आगे बात समझ में ईश्वर कैसा है बाहर भी है अंदर भी है जिस जगह पर जीवात्मा है वहां विद्यमान है और मिलने की जगह भी कौन सी है याद रख लेना ईश्वर के मिलने की जगह कौन सी है जहां जीवात्मा है वहीं ईश्वर का दर्शन ये भी याद रख लो आपको और भी बताएंगे ईश्वर का दर्शन यहां होता है प्रत्यक्ष होता है और होता है तो हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है और मन पे क्या प्रभाव पड़ता है ये वैज्ञानिक बातें हैं और योगी तो बताएंगे कल्पना नहीं है बिल्कुल फिर से सुनिए ध्यान की बात चल रही है ध्यान में क्या भूले करता है व्यक्ति क्या समझे ओम का जब करेंगे गायत्री का जब करेंगे गवेषणा करेंगे ये भूले जो की तो मिलेंगी आपको लोक में कोई चीज ढूंढनी हो तो अपने से दूर ढूंढी जाती है क्या समझे जल्दी पकड़ा करो बात में ढीली बुद्धि वाले काम के नहीं नहीं नहीं बात वही बोलो जो मैं बोल लोक में जो हम चीज ढूंढते हैं अपने से दूर मान के ढूंढते हैं और उस हाँ, वो जो तो हरिश्चंद्र जी समझ गए ना वो जो बात मुझे ये बुद्धि बिल्कुल बेकार लगती है दो छड़ा सा पड़ा है ना पकड़ता है ना समझता है ना आगे का पता ना पीछे का पता ये बुद्धि कहां बना के लाए आप रबड़ बुद्धि है तो फिर सुनो वो जो चीज थी है जी कहां पहुंच गए थे हम लोक में संसार में प्राय चीज को ढूंढते हैं तो अपने से दूर मान के ढूंढते हैं ये संस्कार इसके पल्ले पड़ गया ध्यान से सुन लो जीवात्मा की तो ये क्या करने लगा जैसे लौकिक चीजों को दूर ढूंढते हैं भगवान को भी दूर ढूंढना शुरू कर दिया जो भले व्यक्ति ने ये भूल व्यापक मिलेगी आपको और चीज तो एक देशी है हमसे दूर है उनका ढूंढना ठीक है भगवान सर्वदेशी है और मिलने की जगह हम हैं भगवान का दर्शन ईश्वर का दर्शन जहां होगा जहां जीवात्मा है वही परमात्मा का प्रत्यक्ष होगा और कहीं हो ही नहीं सकता कुछ भाई कहते हैं भाइयों मूर्ति में भी भगवान है ईश्वर में भी भगवान है मां ईश्वर है पूजा कर लो हमने कहा भले व्यक्ति वहां ईश्वर तो है हम नहीं है वहां मिलाप होगा ही नहीं क्या समझ में आया भाई ईश्वर तो है मूर्ति में पर हम मूर्ति में नहीं है मिलेंगे कैसे शरीर से बाहर जाए तो मर जाएगा शरीर मूर्ति के अंदर भगवान को ईश्वर को ढूंढेंगे तो मर जाएगा शरीर फिर दर्शन वजह वैसे कहां दर्शन होंगे नहीं नहीं सुनो प्रकरण को पकड़ो इसको ना बीच में नहीं बोलना अनुशासन में रहना है जो पूजा हो प्रकरण से बाहर मत जाओ ये द्युगम सिद्धांत कहलाता मान लो क्या समझे मान लो हरिश्चंद्र जी बोल के प्रकट से बाहर चले गए मान लो वो शरीर से बाहर निकल के जाएगा तो मर जाएगा शरीर ये था उसका मतलब मान लो मानने का अर्थ होता यदि तुम ऐसा मानते हो तो ये अर्थ होता उसका हाँ फिर चलिए प्रकरण पर सुनो तो मूर्ति में भगवान ईश्वर है ये ठीक बात है पर वहां जीवात्मा नहीं है और जहां जीव आत्मा है वहीं ईश्वर विद्यमान है दोनों का एक साथ संबंध है और वहीं इसका प्रत्यक्ष होता है इसलिए ईश्वर को सर्वत्र मान के खोजना चाहिए और उसके दर्शन का स्थान ये है ये मैंने आपको बतलाया ध्यान में ये भूले नहीं होने दो आज से प्रारंभ करो समाधि में ईश्वर का जो दर्शन होता है जीवात्मा व्याप्य और ईश्वर ये दर्शन का रूप यदि ऐसा ना हो तो ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता अगली बात समझ में अब इतने ज्ञान विज्ञान की बातों को प्रयोग में लाओ ध्यान में बैठेंगे अब ज्ञान कर्म उपास वैदिक परंपरा में तीन अत्यंत आवश्यक हैं शुद्ध ज्ञान शुद्ध कर्म शुद्ध उपासना अब गायत्री मंत्र का पाठ अब ध्यान में देखो क्या हालत होती है आपकी क्या स्थिति आती है अब नहीं बोलना साधक और साधिका अपने हृदय में मस्तिष्क में एक जगह बनाइए और जैसे अब बताया गया हो जहां हम हैं उसी स्थल पर ईश्वर विद्यमान है और वहीं पर उसको संबोधित करना है ईश्वर को और केवल ओम का जप करेंगे ओम का एक अर्थ लेंगे सर्वरक्षक सबका रक्षक जीवन देने वाला मधुर ध्वनि गंभीरता प्रेम ईश्वर को सीधा संबोधन करने का प्रयास बाहर के संसार से मन को हटाइए मन मन में ईश्वर को संबोधित कीजिए क्या हे ईश्वर है सर्वरक्षक हैं ये मानसिक चलेगा वाणी से बोलेंगे और रुक करके ईश्वर को संबोधित करेंगे हे ईश्वर आप सर्व रक्षक हैं सांस ले लीजिए संबोधित कीजिए हे ईश्वर है आप सर्व रक्षक हैं पुनः सांस ले लीजिए ओ شكلهم धंधा नहीं है प्राण को नाशिका के माध्यम से बाहर निकालना और यथाशक्ति रोक देना और थोड़ी सी घबराहट होते हुए धीरे धीरे अंदर ले लेना पूर्ति हो जाने पर आवश्यकता पूरी होने पर समझना कि एक प्राणायाम हो गया आरंभ कीजिए मानसिक प्राणायाम मंत्र का जप अर्थ सहित ईश्वर को संबोधित कीजिए धीरे धीरे ओम भू उपासना काल है अब अपना संबंध है किसी भी बाहर के विषय से न जोड़िए तीन प्राणायाम पूरे होने पर प्राणायाम करना बंद कर दीजिए पुनः मानसिक जप करते जाइए और सांस को स्वतंत्र छोड़ दीजिए स्वतः स्वभावतः ईश्वर के नियमानुसार श्वास प्रश्वास स्वतः आता जाता रहेगा उसका चिंतन कुछ नहीं करना ईश्वर की खोज करनी है मानसिक जप में एक भूल और होती है वह यह है कि जप करने वाला साधक साधी का वो मानसिक जप को बंद कर देता है तो जप को बंद नहीं होने देना चाहिए अर्थात ओम भू ओम भुव ओम स्व इसको मानसिक रूप में चलाते जाना है रुकना नहीं है अर्थात बंद नहीं करना है स्थिति में ये अभ्यास डालिए कि हम एकदम बाहर दुनिया की ओर न भागे हम अंदर से ईश्वर के साथ जुड़े रहें और बाहर से संसार के साथ ये विज्ञान है अंदर से हम ईश्वर के साथ जुड़े रहें और बाहर से बस ये जीवन है वास्तविक जीवन है और एक व्यक्ति बाहर तो जुड़ा रहता है कुल लूके पहले की तरह भगवान से कोई संबंध नहीं ईश्वर से कोई संबंध नहीं एक व्यक्ति परमात्मा की बात तो करता है व्यवहार उसको आता नहीं है वो बाहर से खत्म हो गया ध्यान के विषय में एक भावना उसका प्रयोग कवि ने किया है मोटा रूप बोलना भी सीख लो जो जानते हैं उनको नहीं सिखाना उनको और आगे बढ़ना है ईश्वर कहां मिलेगा आपको पता चला पर ये करोड़ों लोग तो ईश्वर को और ही कहीं ढूंढ रहे भारत में अब मैं जगन्नाथपुरी गया भुवनेश्वर राजधानी में तो एक शिक्षण शिविर चला बड़ा अच्छा प्रभाव रहा वो जनक जगन्नाथपुरी में भी चला गया बस लंबी कथा है उसको नहीं छेड़ना वो ईश्वर को कहा ढूंढते हैं कहा मानते हैं आश्चर्य की बात है पागल अपन और उसमें कोई अंतर नहीं दिख रहा तो क्या कहा कवि ने नहीं आज तक किसी ने तेरा मुझ चांद और सितारे छोटी मोटी बात हो जो आपके सामने शंका के रूप में हो तो आप पूछ सकते हैं हाँ जी हाँ फिर बोलो अभी समझ में नहीं आई बात हाँ हाँ ये ठीक बात है अब आई बात समझ में कुछ लोगों का मत ये है जीवात्मा का स्थान मस्तिष्क है और दूसरे वर्ग में है जीवात्मा का स्थान ये है पर याद रखना आप ऋषि सत्यवादी और दूसरे लोगों की बात में जहां टकराव हो जाए वहां आप तो की बात माननी योग्य है टकराव है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कंठ के नीचे दोनों स्तनों के बीच में उदर के ऊपर यहाँ पर ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है ये ऋग्वेदादी उनका में लिखा है तो हम यहाँ मानते यहां नहीं मानते हाँ ये अलग विषय है घटना विशेष में जीवात्मा यहाँ पहुंच जाए तो हमें आपत्ति नहीं है मुख्य स्थान ही है आई बात समझ में मुख्य स्थान ये है वहां किसी देखिए ना जीवात्मा की रहने की जगह है ईश्वर ने बनाई जहां पर रह के जीवात्मा संचालन कर सकता है वहीं जीवात्मा रहेगा नहीं तो शरीर मर जाएगा मुख्य स्थान ये है घटना विशेष में जीवात्मा वहां जाके दूसरी जगह बैठ जाए काम करने लगे तो कोई बाधा नहीं है सुसुप्ति अवस्था में और स्थिति है जागृत में जीव की बिल्कुल और स्थिति होती है उपनिषदकारों ने लिखा है जीवात्मा फलानी नाड़ी में सड़क जाता है क्या समझे सड़क जाता है तो हमें इसमें बाधा नहीं है किसी अवस्था में दूसरी जगह जीवात्मा रहे पर मुख्य स्थानीय है सुनिए हाँ आपके पीछे जो अब आपका नहीं सुना आप बोलिए एक बोलो पहले हवा में हम्म। नहीं एक बात लो आप एक प्रसंग है कि क्या योगी हवा में उड़ सकता है सीधी सी बात ही एक लो लंबी बात मत करो ध्यान देना ये जो योग दर्शन आपके सामने आया है आरिपन विकास से छपा हुआ अब जो आपके सामने है आजकल योग दर्शन है पूरा का पूरा हमने अपनी बुद्धि के अनुसार ये नहीं कि वही अंतिम बात है ये मत मानना सिद्धियों के चार प्रकार बताए हैं वहां सिद्धियों के असंभव कोटि जो कभी नहीं हो सकता क्या समझे ऐसी ऐसी योग नाम की सिद्धि बोली जाती है कभी नहीं होती ईश्वर के तुल्य सर्वज्ञ बन जाना सृष्टि की रचना कर देना ये योगी कर देता है ऐसी मान्यता लोगों की है ये असंभव कोटी है आज मैं योगी नहीं चलता गलत बात है उसमें भी भाजन किया दूसरी सिद्ध कोटि संभव है ईश्वर प्रणिधान से समाधि लग जाती है वैराग्य व्यास वृत्तियों को रोक दिया जाता है ईश्वर का साक्षात्कार होता है ये सिद्धियां सिद्ध है संभव है संभव कोटि दो कोटियां हो गई है संभव असंभव कोटि और संभव कोटि ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है ईश्वर प्रणिधान से समाधि सिद्ध होती है आदि आदि अब तीसरा वर्ग है विकल्प कोटि क्या समझे इस शब्द का ये अर्थ कर दो तो ठीक है और ये अर्थ करो तो गलत है शब्द एक है हाँ जी योगी बुद्धि से पत्थर में से देख लेता है शरीर से नहीं योगी पत्थर में घुस जाता है इसके दो मतलब है शरीर से घुस जाता है एक और बुद्धि से घुस जाता है दो तो। विकल्प है क्या ये अर्थ किया जाए या वो किया जाए कौन सा ठीक बैठेगा ये विकल्प कोटि कहलाती है बुद्धि से घुसता है वैज्ञानिकों की तरह यंत्रों को बौद्धिक स्तर इतना बढ़ाया उसने ये तो है संभव कोटि विकल्प और यदि पत्थर में घुसता शरीर से ये विकल्प ठीक नहीं है ये विकल्प कोटि है तीन तो हो गए पूरे एक पांच रह गया आप वाला संतोष रखो एक वर्ग ऐसा बच गया आज हम उसको सत्य और असत्य नहीं कह सकते अब वो परीक्षा कोटी है क्या समझ माया पानी पर चल सकता है या नहीं ये अभी परीक्षण सिद्ध नहीं है परीक्षा कोटी में चल रहा है ना हम इसको झूठा कहेंगे न हम सत्य कहेंगे बीच की जितनी बातें हैं ना अभी परीक्षण नहीं हो रहे परीक्षण हो रहे हैं उसको हमें एकदम मानना जरूरी नहीं है तो ये हमारी ऐसी सिद्धियां हैं अभी वो परीक्षा कोटि में योगी दूर की बात जान लेता है ये बहुत आता है इंग्लैंड में लोकसभा भवन में क्या हो रहा है दिल्ली की लोकसभा में क्या हो रहा है यहां बैठा बजा जान लेता है ऐसा प्रकरण है नहीं समझे आप हाँ बिल्कुल है ये सिद्ध कोटि में नहीं होके परीक्षा कोटि में तो और लंबी चर्चा फेर करना ये थोड़ा सा जो बातें आ जाती है और कोई विशेष बात क्या पूछना था इसका उत्तर आरंभ में जहां आपकी रुचि है वहां पहले रुचि पर चलेगा यहां भी कर सकते हैं यहां भी कर सकते हैं ना भी कर सकते हैं रुचि कालांतर में मन पर अधिकार हो जाता है ध्यान देना फिर आप यहां ले जाना हो गया ठीक हाँ जी ऐसी कोई आवश्यक नहीं है सीधी बात है ऋषियों ने लिखा तुम्हारी रुचि हो पहले वहां जमा लो मस्तक में किसी को सरलता किसी को हृदय में पहले वहां तो जमाओ वहां जमने के बीच मेरा अधिकार हो जाता है फिर कहीं ले जाओ किसी को यहां सरलता किसी को यहां सरलता दिखती है अब विराम की ओर चले ये जो होना है मुख्य मुख्य जो बात है हाँ कौन हाँ बोलो आप तो कई दिन से कर रही हो हाँ हाँ ऊंचा बोलना पड़ेगा हाँ, आप कह रहे ना जीव के साथ रहता है बिल्कुल इनका आपस में संबंध क्या है जहां जीवात्मा यहां है तो यही सूक्ष्म शरीर बुद्धि मन ज्ञान इंद्रिया ज्ञान इंद्रियों की और प्रक्रिया है कुछ इंद्रिया तो अपने केंद्र पर काम करती है और ये इंद्रिय ऐसी व्यापक है त्वचा इंद्रिय त्वचा इंद्रिय व्यापक है शरीर में ये इंद्रिया केवल एक केंद्र बिंदु पर रहती है जीवात्मा के साथ साथ मन रहता है वो जिस ओर प्रेरणा करता है वही काम करना नाड़ियों के माध्यम से मन के माध्यम से सारे काम चलते हैं उसके साथ आबद्ध रहता है हाँ अब सुनो संकल्प विकल्प जीवात्मा करता है मन के द्वारा करता है ये जोड़ दो साथ में देखता कौन है किसके द्वारा नहीं नहीं आंख के द्वारा देखता कौन है जीवात्मा किसके द्वारा करता कौन है जीवात्मा किसके द्वारा मन के द्वारा इसको मैं पकड़ू या नहीं पकड़ू ये हानिकारक है या लाभदायक है ये जीवात्मा करता है पर करता है मन के द्वारा समझ में आ गया ओम मदेव शांति